छियासी में पदभाष्य कुछ बाकी था द्वितीय मंत्र का अच्छा ठीक हम्म। तृतीय चलेगा हाँ पहले देवताओं का अभिमान हुआ अहंकार को नष्ट करने के लिए ब्रह्म उनके सामने प्रकट हो गए कुछ आश्चर्य रूप से किंतु ये लोग नहीं जान पाए ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति ते अग्निम अब्रुवन ते देवाः सो देवता अग्नि से कहा हे जात वेद जात जन्म ही सब जानते सब सर्वज्ञ आप है एतद विजानीहि अग्रगामी अग्नि इसको जान लो देख लो क्या है किमेतद् यक्षमिति ये पूजन्य क्या है अग्नि ने कहा तथेति इसमें पदभाष्य एक साथ है हाँ एक साथ है तदभ्यद्रवतमभ्यवदत् कोश कोशीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवी जात वेदा वा अहमस्मीति तदभ्यद्रवत तद अभी उसके पास दौड़ गई अग्नि जानने के लिए पास में जाने के बाद उसके तेज से स्वयं कुछ नहीं बोल पाया चुप हो डर गया तो तम अभ्यवदत उस अग्नि से यक्ष ने कहा ब्रह्म ने कहा तम अभ्यवदत कोसीति तुम कौन हो तो इनका थोड़ा साहस हो गया पहले तो मैं पूछ नहीं पाया इसको पूछना था आप कौन है कहां से आए किन जाकर वहाँ डर गया तो कहा कौन हो तो थोड़ा साहस हो गया अग्निर्वे अहम अस्मि मैं अग्नि हूं इति अग्निर्वे अहम अस्मि थी अब्रवीत कहा जात वेद व अहम अस्मि ये भी मुझे कहते जात वेद भी मैं हूँ दो नाम कह करके अपने प्रसिद्ध इति इति अब्रवीत के साथ संबंध तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति परमात्मा ने कहा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति ऐसे तुम्हारे जो दो प्रसिद्ध नाम बड़े-बड़े नाम है अच्छा नाम है ऐसे नाम वाले तुम्हारे क्या सामर्थ्य है का इदम सर्वदह्यम यदि इदम पृथ्व्यामिति ये सारे जो कुछ है सब को जला सकते हो मैं यदि इदम पृथ्व्याम खाली पृथ्वी नहीं सारा ब्रह्मांड सब जला सकता हूं इति इति कौन से उन्हें वाक्य समाप्ति तस्मै तृण निदधा तदुपप्रयाय तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धम सततेव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति तस्मय तृणम निदतो तस्मय उसके लिए सामने तिन का सुखा निदतो निपुरस्थापन अर्थ थोड़े रख दिया निदतो लिट में निदतो एतदह इति का एतदह इसको जलाओ देखो तद उपप्रयाय उसके पास गया या चला गया अग्नि सर्व जवेन तन्न ससाक दग्धम बड़ा जोर लगाया जला नहीं सका सततेव लज्जित होकर के निवृत्त हो वापस चला गया अपने आप अब वहाँ कुछ नहीं कहा ऐसे तृण क्या रखा मैं जला नहीं सका ऐसा नहीं बोला क्या नेतद असकम विज्ञातुम इसको नहीं जान सका यदेत यक्षमिति यक्ष कौन है नहीं जान सका अथ वायुम अब्रुवन वायवे तद विजानी ही किमेत यक्षमिति तथेति उसके बाद वायु से कहा सब देवता ने अब्रुवन हे वायो वायो वायो एतद बीजानी इसको देख लो जान लो कि मैं क्या वायु ने कहा तथा इति ठीक है तथा व्यद्रव तम व्यवदत कोशीति वायुर्वाहमस्मित्य ब्रवीन मातरिस्वावा अहमस्मिति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यभितं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तदभ्यद्रव तब वायु उसके पास गया इसी प्रकार जैसे अग्नि ये भी जाकर के रहा तम अभ्यवतत से लक्ष्य ने कहा थी तुम कौन हो क्या वायुर्वे हम अस्मि वायु हूं अब्रवीत मातरिश्वा मातरिश्वा भी मेरा नाम है मातरिश्वा इति मातरिश्वा आकाश में चलने वाला हम अस्मिति तस्मिन् सही किम थी तुम्हारे में क्या सामर्थ्य का इदम सर्व महादधिय यदिदम पृथ्व्याम जो कुछ है सब कूड़ा कर ले लूंगा तस्मै वे तदादत्स्वेति तदुपप्राय सर्वजवेन तन्न ससाकादातुम सततेव निवृत्ते नैत दशकम विज्ञातुम यते तद व्यक्तमिति वही सामने रख दिया ले लो कूड़ा का ले लो आदत इति ले लो तदुपप्राय उसके पास से दौड़ गया सर्वजवेन जोर से जा करके जोर तो लगाया तन्न आधा तुम नहीं उड़ा नहीं सका सततेव निवृत्ते उससे निवृत्त हो गया जाकर कहा नहीं तदर्शकम विज्ञातम ये अक्ष क्या है अथ इंद्रम अब्रवन्मघ ने तद्विजानी किमे तदक्षमिति तथेति तदव्यद्रव तमस्मा तत्तिरुदते इंद्र को कहा मघवन तो देवता ने कहा एतद विजानी आप तो देवता में राजा श्रेष्ठ इसको थोड़ा देख लो क्या है कि किमे तदक्षमिति तथेति इंद्र ने कहा ठीक है अर्थात ये लोग नहीं जान सके मैं नहीं छोड़ूंगा ध्यान करा जाऊंगा तद तो उसके पास जब गड़ गया तस्मा तिरोध थे वहाँ से तिरोधायित हो गए क्या इसका ज़्यादा अभिमान है अन्य के साथ तो बात भी हुई इसके सामने के तो अंतर्भूत हो गया ये गाय का दस ग्यारह हम्म। खंड तो खत्म होगा उसका भाष्य अलग है भाष्य अलग है छयासी पृष्ठा में ते तज अजानंतो देवा शांत्र भया तद विज्ञासवो अग्निम अग्रगामिनम जात वेदसम सर्वज्ञ कल्पम अभवन उक्तवंतो हे जात वेद ते अग्निम अभ्रुवन ते कात देवा कौन से देवा तद अजानत जो उसको नहीं जान सके तन्न व्यजानत किमित किमिदम यकेमिति नहीं जानते हुए देवताओं ने शांतर भया अंतर भय ये भयम येषां ते अंतर शांत शांत शांतर भया अंतर भय अंतर भय अंतर भयम अंतर भय न स शांतर भयम अंदर तो भय है डरते हैं तो दिखता है क्या आश्चर्यचकित क्या चीज़ है अंदर भय के साथ बोला तद जिज्ञासा जानना चाहते हुए अग्नि अग्नि को कहा अग्रगामी अग्रगामिनम अग्रगामी है जात वेदसम जात वेद जातम वेदम जातम सर्वम वेतिति जात वेदस सब को जानने वाले सर्वज्ञ कल्पम सर्वज्ञ तो ईश्वर है तो सर्वज्ञ कल्पम सर्वज्ञ समान अभ्रुवन देवता ने कहा उत्तम तो हे जाते वेद एतद एतद का तो एतद समीपतरवर्तिनी चेतद रूपम एतद सब समीप सामने अस्मद गोचरस्तम सामने जो दिखता है यक्ष बीजानी सबको तो दिखता सो देखते हम किंतु विशेष न जानी विशेषत्व बुद्धि विशेष करके जाकर बोझो कौन है क्यों तुम त्वम न तेजस्वी क्योंकि तुम तो हमारे में तेजस्वी हो ऐसे तुम जाकर देख लो जान लो कि मैं तद्यक्षमिति अग्नि का तथा स्तुति ठीक है हम जाते हैं तद्यक्षम अभ्यद्रवत अभी अद्रवत उसके पास गया द्रुगतीर्थ के तब प्रतिगतवान अग्नि गया तम च गतवंतम पिपृचिसुम तत्समीपे अप्रगल्भत्वा तूष्णीभूतम गया अग्नि पिपृचिसु पूछना चाह रहा था तो समीप में जब गया अप्रगल्भत्वा तूष्णीभूतम पूछना चाहता प्रतिभा रहित हो गया तो जाकर के चुपचाप पूछ नहीं पाया तद्यक्षम अभ्यवदत अभ्यद्रवत ने अभ्यवदत उनसे कहा अग्नि प्रति अभासत कोसिति अग्नि से कहा उन्होंने तुम कौन हो एवं ब्राह्मणा पृष्ठो अग्नि रवित ब्राह्मणा पृष्ठो अग्नि ने कहा अग्नि रिवा अग्नि रिवे प्रसिद्ध अग्नि नामा हम वही कौन से प्रसिद्ध हो जात वेद इति च जात वेद ये भी नाम नाम द्वेन प्रसिद्धते आत्मानं श्लाघयन् अपने प्रशंसा करते अग्नि प्रसिद्ध में हो जात वेदा दो नाम कह कर अपने प्रशंसा करते कहा एतव मुक्तवंतम ब्रह्मवाच तस्मिन् एवं प्रसिद्ध गुण नामवति त्वयि किम वीर्यम सामर्थ्यमिति त्वयि किम त्वयि तस्मिन् त्वयि तस्मिन् त्वयि तस्मिन क्या था ऐसे नाम गुण वाले तुम प्रसिद्ध नाम वाले तुम क्योंकि जो दो नाम कहा ऐसे नाम वाले तुम्हारे में तस्मिन तस्मिन एवं का अर्थ प्रसिद्ध गुण नामति जो प्रसिद्ध गुण नाम वाले तुम तुम्हारे क्या सामर्थ्य किम भी सामर्थ्यमिति स्वब्रवीति स कह अग्नि ने कहा इदम जगत सर्वम दयेयम भस्मीकुर्याम यदि तम स्थावरादि पृथिव्यामिति ये सारे जगत को भस्म कर दो दहयम भस्म कर दो यदि चाहूं तो यदि दाम स्थावर आदि इति जो स्थावर जंगम जो कुछ है पृथ्वी में सब पृथ्व्याम जो का खाली में नहीं पृथ्व्यामिति उपलक्षणार्थम पृथ्वी में जो का है उपलक्षण ये सब जो दिखता है पृथ्वी केवल नहीं स्वर्ग मर्त्य सब को पांच ऊपर लोक भी पाताल सब को क्योंकि या तो अंतरिक्षस्तम भी दयते अग्निना आकाश में स्थित उसको भी अग्नि से उसका भी दाह होता है इसे पृथ्वी मतलब केवल भूल का नहीं उपलक्षण है तो जो कुछ है सब को चाहो तो जला दूं तस्मा एवं अभिमानवते ब्रह्म तृणम निदधौ एवं अभिमानवते अग्नय अग्नि के लिए ब्रह्म यह तृण को रख दिया पूर्व अग्नि स्थापितवत अग्नि है पूर्व अग्नि के सामने स्थापितवत रख दिया तबत प्रत्यय स्थापितवत ब्रह्म ने रख दिया एतत्रण तृण मात्रम ममाग्र तो दहो दह ये तृण मात्र के मेरे सामने जला दो ये कहने का अभिप्राय क्या है न चेद अस्य दग्धुम समर्थो मुंच दग्धृत अभिमानम यदि इसको दहन नहीं कर पाओगे ये तुम्हारा अभिमान है छोड़ो इसको ये कहने का अभिप्राय इसको जला दो तो जला दे मतलब जो जला नहीं पाएगा तो अभिमान नष्ट होगा तो मुंच तो अभिमान सर्वत्र पूरा अभिमान छोड़ो इतुतस्त तृणम उपप्रियाय उपप्रयाय तृण समीपम गतवान पास में चला गया सर्व जवेन सर्वोत्साह कृतेन वेगेन गत्वा जब तीर्थ जोर से उत्साह के साथ जाकर दौड़ करके न ससा का नाशक दग्धुम दहन कर नहीं कर सका जाते वेदास तृणम दग्धम अशक्त हो जो तृण को जलाने के लिए असमर्थ हो गया विरीडित तो लज्जित हो गया हत प्रतिज्ञा हता प्रतिज्ञा ऐसे हत प्रतिज्ञा कहा इसको जला दो सारे सब कुछ जला दो का को नहीं जला पाया प्रतिज्ञान से लज्जित होकर के वयक्षा देव तुष्णिम देवान प्रति निवृत्ते निवृत्त प्रतिगतमान चुपचाप चला गया कुछ नहीं बोला उनसे पूछा नहीं कहा नहीं कुछ चला गया कहा बोलना चाहिए मैं तो जलाने में सामर्थ्य मेरे में है किंतु इसको क्यों नहीं जला पाता हूँ क्या आपने क्या आप कौन ये तो गया था उनको देखने के लिए पूछने के लिए उनको कौन जानना चाहिए था तो नहीं जला सका तो कहना चाहिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं तो आप कौन है बताइए कुछ नहीं कह करके लज्जित हो गया और क्या पूछेगा चला गया नहीं तो, तो जाकर निवृत्त वापस चला गया चुपचाप प्रतिगतवान नहीं यक्षम असखम असक्त असक्तवान इसको जान नहीं सका हम विज्ञातम विशेषण जानने के लिए नहीं जान सका यतेत यक्षमिति अथ वायुमिति अथ अनंतरम वायुम अब्रुवन सब मंत्र के एक प्रकार अर्थ है इसलिए एक साथ कह दिया अर्थ अनंतरम वायुम अब्रुवन हे वायु एतद् बीजानि इत्यादि समानार्थम पूर्वेण समानो अर्थ यस्य मंत्रस्य स समानार्थ पूर्वेण स समान अर्थ के वायु नाम है वाहनात गमनात गंधनात वायु गति गंधन धातु है वाहनात वाहनात वायु हो वाह धातु से लुट गया वाहनात वायु उसका अर्थ गति अर्थ को लेकर गमनात और गंधनात गति गंधन है गमनात वायु गंधनात गमन करता है और गंध को ले सुगंध ले लेता है इधर उधर मातरिश्वा क्या है मातरि अंतरिक्ष चैत इति मातरिश्वा मातरी अंतरिक्ष में संचरण करता है इसलिए मातरी स्वा मातरी का अर्थ अंतरिक्ष इदम सर्वम अपि आददीय सब कुछ ले लो गृणियाम यदिदम पृथ्व्याम इत्यादि समानमेव सब अर्थ समान है वाक्यवास कैसे एक साथ है कहां तक नहीं दो हो गया क्या अच्छा दो हो गया वहां से शुरू होता है अच्छा एक साथ है हां वो तो कुछ थोड़ा सा तो ग्यारह ते है ना अपने ये कितने हुआ है दस हुआ और एक है हाँ तो और एक पहले पद भाष्य कर लेना हम्म, हम्म। ग्यारह तो मूल हो गया उसमें तो ग्यारह तक तो है ना बारह तक है बारह तक है कितने पृष्ठ में कुछ समझ में आता है बारह मंत्र नहीं पूछे वाक्य से पूरा हुआ कहाँ कितने पूछे हाँ एक सौ ग्यारह में पूरा हुआ तो ग्यारह तक अलग है बारह द्वादश अलग है वाक्य से है ना अभी कितने हुआ अच्छा दस हुआ था हाँ ग्यारह ठीक है ग्यारह ग्यारह नहीं हुआ था अच्छा अच्छा हाँ भाष्य अच्छा ठीक है ठीक है हाँ, एकादश वाक्य भाष्य देखो बयान में अथे इंद्रमिति अथे इंद्रम अब्रुवन इंद्र से कहा देवताओं ने मघवन एतद विजान ही इसको जानो इत्यादि पूर्ववत इसी से पहले था इंद्र है परमेश्वर मघवान परमेश्वर इंद्र का इंद्र इंद्र माया भी पूर्व रूपी है तो होता है तो इंद्र देवताओं का ईश्वर है भगवान बलवत्वात् बलवान है तथेति कहा तद अभ्यद्रवत उसके पास गया तस्माद इंद्राद आत्मसमीपम गतात ब्रह्म तिरोधते तस्मात् तिरोधते तस्मात् इंद्र के समीप से अपने समीप जब गया गता तद ब्रह्म तिरोधते तिरोभूतम तिरोभूत शिव के इंद्र के विषय नहीं रहा इंद्रस्य तिरभूतम इंद्रत्व अभिमान अतितराम निराकर्तव्यति इंद्र का जो अभिमान इंद्रत्व अभिमान है अत्यंत अधिक है सब देवता से मैं बड़ा हूँ देवराज देवता में राजा है निराकर्तव्य इसी अभिप्राय से तिरभूत हो गया इत्यतः संवाद मात्रमपि न अदात ब्रह्म इंद्राय अन्य के साथ बात हुई पास में गए बात हुई देख कर के आए इतने तो कम से कम जाकर बोल सकते हम ऐसे बोला बात हुई ऐसे कहा तो पहले तो डर थी क्या चीज ये ये संवाद मात्र पर न अदाद्या नहीं ब्रह्म इंद्राय नाश करने के लिए अत्य अभिमान को तद यक्षम यस्मिन आकाश अच्छा ये द्वादश एक साथ इसका भाष्य है क्या 11 बार अच्छा पदभाष्य एक साथ है आगे मंत्र देखो सतस्मिन एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति स तस्मिन् वाकाशे स्त्रियमा इंद्र तो हे तो राजा अन्य जैसे देवता नहीं तो जैसे चले गए इसी जाकर कह देता नहीं ध्यान तो पका वहाँ नहीं गया वहाँ रहा कोई कार्य करने के लिए प्रयत्न करते हैं असफलता हो सकती है किंतु फिर प्रयास करें फिर प्रयास करें तो सफलता मिलेगी और थोड़ी देर गए बद्रीनाथ जाने के लिए एक दिन चला कहाँ बद्रीनाथ है पहाड़ पहाड़ है छोड़ो कोई गया सात आठ दस बारह दिन चला पांडु के तक तो पहुँच गया फिर कहा यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ आया इतने दिन चला कहीं बद्रीनाथ दर्शन नहीं किया उठा कुछ बद्रीनाथ वापस आ गया तो मिल जाएगा तो हो सकता और एक दिन में चल मिलन था वापस आ गया इसी प्रकार जो साधक वैराग्य तो संसार से होना चाहिए वो श्रवण मनन दास इससे वैराग्य हो जाता है क्या हुआ इतने दिन से मुझे क्या मिला कहते तो इतने दिन श्रवण क्या क्या हो गया इतने ध्यान क्या क्या हो गया उसके क्या तो हम अच्छा ऐसे करेंगे सब लोग करते हम भी करेंगे सब लोग इकट्ठी करेंगे हम भी क्या कथा नहीं कर सकते हम क्या मकान बना से नहीं सकते तो हम भी करेंगे बस इतने दिन साधन भजन क्या मिला दूसरे को डांटेंगे हमको साधन भजन करने कहते हो क्या मिला हमको और गुरु जी को डांटेंगे गुरु जी कहते खाली श्रवण करो साधन करो क्या मिला क्या होता है फिर निश्चय कर लेते कुछ होता नहीं और बाकी लोगों के सामने जब कहेंगे बात सामने तपस्या करके आया कुछ लोग थोड़े दिन हिमालय रहना चाहते हैं जाकर के हिमालय तपस्या करके आए ये नहीं प्रयत्न करना पड़ता है लक्ष्य प्राप्ति होने तक लगने से सफलता मिलती है तो इंद्र वहां वापस नहीं आकर के वहीं रह गया ध्यान चिंतन किया क्या है क्या है जो देखा था जितने देखा था इसका ध्यान चिंतन किया परमात्मा का सब ध्यान करते हैं देखा था किसी ने नहीं जैसे शास्त्र में सुनते शास्त्र के शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है तो ये भी प्रमाण है प्रमाण से जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे सुनकर उसका चिंतन किया ये तो यहाँ सामने प्रत्यक्ष देखा देवता ने प्रत्यक्ष देखा तब तभी उपास में गए तो जैसे दिखता इसी प्रकार चिंतन करें यही प्रतीक उपासना है जिस प्रतीक रूप से देखा था उसी रूप से ध्यान किया क्योंकि अभी तो पता नहीं क्या है कौन है तो जैसे देखा था उसको ऐसे चिंतन किया और तो क्या है कौन है उनका ध्यान इसलिए यही प्रमाण है प्रतीक उपासना में कोई प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं यह वेद प्रसिद्ध है अब प्रतीक जैसे से हुआ कहीं ज्योतिर्लिंग हो गया कहीं सालग्राम और नर्मदेश्वर काष्ठ पाषाण किसी में भी हो परमात्मा के प्रतीक बना करके मनो ब्रह्म इति उपासित आकाश ब्रह्म से किसी भी प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी होती है तो ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वत्र है तो प्रतीक में भी है जो कहते ये मूर्ति में भगवान नहीं प्रतीक में भगवान नहीं तो कहाँ भगवान है चलो निराकार है तो है कहाँ प्रतीक जितने प्रतीक को छोड़ देंगे जितने लिंग जितने मूर्ति जितने सालग्राम छोड़ देंगे तो ब्रह्म कितना हो जाएगा खंडित हो जाएगा ना नहीं ब्रह्म सर्वव्यापक है मानना पड़ेगा तुम साकार मानो निराकार मानो सगुणमान निर्गुणमान सर्वव्यापक व्यापक मानना पड़ेगा सर्वव्यापक है तो प्रतीक में नहीं कैसे है वहाँ सर्वत्र है वहाँ भी है हाँ अन्यत्र नहीं वहाँ है ये बात नहीं किंतु वहाँ भी है अन्यत्र वहाँ नहीं कह करके खंडन करने वाले अपने मूर्खता का प्रकट करते हैं सर्वत्र है परमात्मा कहाँ नहीं सर्वत्र है ठीक है आपकी श्रद्धा जहाँ उपासना करो किंतु वहाँ नहीं ये बात नहीं सर्वत्र है वासुदेव सर्वम परमात्मा सर्वत्र सर्वम कलुदम ब्रह्म सब परमात्मा है तो प्रतीक में भी है जैसे दृष्टि कर उपासना करे इसे फल मिलेगा तो इंद्र वहाँ रह गया जब रह कर ध्यान क्या चिंतन करेगा जो देखा था उसका ध्यान करते रहा तो रहने पर स्त्रियम वहाँ देखा एक स्त्रियम आज स्त्री सामने प्रकट हो गई उसको देखा बहु शोभमाना अत्यंत सुंदरी उमा हैमावतीम तो दो प्रकार अर्थ करेंगे शोभामान शोमाना है विद्या विद्या है क्योंकि विद्यावान ही ब्रह्म विद्या हो सबसे बड़ा शोभमान तो वही है विद्या हुमा अथवा हिमावत की पुत्री हुमा जो शिव परमात्मा के साथ हमेशा रहती है ताम हो वाच उनसे कहा किमेतद यक्षमिति यक्ष क्या है यही होता है पर ब्रह्म ज्ञान के लिए ऐसे गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है स्वयं ध्यान करके ज्ञान नहीं हो पाया ध्यान करने पर विद्या प्रकट हो गई उमा उनसे पूछा फिर उनके उपदेश से पर ब्रह्म को जान सका इंद्र इसी प्रकार अन्य गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है ये भी परंपरा इस वैदिक परंपरा स्पष्ट होती है अभी भाष्य पदभाष्य जहां छोड़ा था यस्मिन् हाँ, तद यक्षम यस्मिन् आकाश प्रदे आकाशय आकाश प्रदेश आत्मानं दर्शयित्वा तिरुभूतम इंद्रस्य ब्रह्मण तिरोधान काले यस्मिन् आकाश आसीत् स इंद्र तस्मिन् आकाशे तस्थौ भाष्य मंत्र में स तस्मिन् आकाशे तस्मिन् आकाशे तस्मिन् का कस्मिन् जिस आकाश में यस्मिन् आकाशे आकाशे का था आकाश प्रदेश आकाश दिव्याप यस्मिन् आकाश मतलब जिस आकाश में बहुत आकाश में एक आकाश है ऐसा है क्या यस्मिन आकाश मतलब आकाश तो बहुत है जिस आकाश में इंद्र था ये यस्मिन आकाश है था यस्मिन आकाश प्रदेशे आकाश तो दिव्यापक वो आकाश स्थान में जाकर जिस देश में देश का तो वहाँ कोई जमीन मकान महल है जाकर वहाँ बैठ गया नहीं खाली स्थान है ऐसे देखा वहाँ जाकर पहुँच गया देखा आकाश में रह गया आत्मान दर्शयित तिरुभूतम यक्ष ने अपने को देखा करके छिप गया और इंद्र से ब्राह्मण तिरुधान काले जो छिप गए उस समय इंद्र जहाँ था इंद्र पहुँचते पहुँचे छिप गए जिस आकाश में जहाँ इंद्र था स इंद्र तस्मिन आकाश तत्तो वही आकाश में रह गया वापस नहीं आया क्या करते रहे खाली से रह गया मतलब खाली बढ़ जाने से मन खाली हो जाने से नहीं होता है ध्येय चिंतायाम ध्यान होता है चिंतन कोई कोई कहते मन खाली हो गया बास हमारा गया मन खाली हो गया मन खाली हो लय अवस्था है ध्येय स्वरूप का चिंतन होता है ध्यान ध्यान करते समय विभिन्न विषय चिंतन होता है विक्षेप होता है उसकी निवृत्ति तो चाहिए किंतु विक्षेप निवृत्ति मात्र से ध्यान नहीं हुआ ध्येय का चिंतन भी करना चाहिए तत्र था ध्यानम तत्र ध्येय के विषय में किसी तल पर प्रत्यय चिंतन ज्ञान एकता न लगातार चले इसका नाम ध्यानम अब किसी ध्येय का चिंतन छोड़ करके खाली खाली हो गया अवस्था सुसुप्ति ऐसा ध्यान नहीं है इसलिए ध्यान करने वाले सावधान होना चाहिए बहुत लोग सो जाते हैं लगता है ध्यान हो गया कुछ लोग ध्यान को बड़ा मानते साधन अब बैठ कर क्या करेंगे आरंभ संत सो सो करके सिर नीचे करते करते फिर कट गया केवल विक्षेप निवृत्ति मात्र से भी आनंद मिलता है विक्षेप नहीं हो थोड़ा बैठ गया तो अच्छा लगता है किंतु वो ध्यान नहीं हुआ ध्येय चिंतन होना चाहिए तो इंद्र केवल वहां रह गया नहीं किम तद यक्षमिति ध्यायन यही चिंतन ये दक्ष क्या है ये जितने देखा तो उसे देखा देखकर क्या है वो क्या है उसका चिंतन मन में से सामर्थ्य है जिसका चिंतन करेंगे लगातार एकाग्र होकर के जैसे सूर्य किरण थोड़ी किरण एक स्थान में होने अग्नि प्रकट हो जाती है कांच लेकर ये चश्मा कांच से देखो ये जो बीच वाला मोटा कांच हो थोड़े सूर्य कण एक बिंदु हो गया तो अग्नि हो जाती है मन से इस प्रकार निरंतर एकाग्र होकर ध्यान करे तो ज्ञान होता है मन से वान द्रष्टव्यम मन से ही ज्ञान होता है ब्रह्म ये मन में सामर्थ्य है ऐसे निरंतर ध्यान करते हैं रहा न निवृते अग्नियाधिपत अग्नि वायु के समान वापस नहीं आवा यही ध्यान करता रहा तस् इंद्र से यक्षे भक्ति बुद्धवा विद्युमा रूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा परमात्मा अंतर्यामी है जानते हैं किसकी भक्ति कितने है भक्ति श्रद्धा अत्यधिक है तो परमात्मा कृपा करते ही है इंद्र से आखे भक्ति बुद्धवा भक्ति को समझ करके विद्या उमा रूपिणी उमा रूप से विद्या प्रकट हो गई प्रादुर्भूत प्रादुर्भ प्रकट हो गई स्त्री रूपा विद्या इन विद्या ही है या विद्या ही स्त्री प्रकट हो गई स इंद्र ताम उमा बहुसवमानाम सर्वेषा शोभमाना नाम विद्या विद्याम इंद्र उसे बहु शोभमान है विद्या जितने शोभमान सुंदर है सबसे शोभमानतम है विद्या तथा बहु शोभमान ये विशेषण उपपन्न होती तभी बहु शोभमान विशेषण बनेगा विद्या हैमवतीम कृत आभरणवतीम इव कृत भक्षण के समान क्योंकि विद्या तो ब्रह्म विद्या लेंगे तो सुवर्ण आवरण क्या है आवरण भतिमेव ऐसे सुवर्णकृत भूषण के समान भूषण जैसे युक्त अत्यंत शोभमाना इत्यर्थ ये तो विद्या ब्रह्म विद्या को ही यहाँ कहा प्रकट हो गई ध्यान करते करते ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई अथवा उमा एव हिमवत दुहिता हिमवती हिम हिमवती दिया उमा नाम है हिमालय की पुत्री हिमवती नित्यमेव सर्वज्ञन ईश्वरेण सवर्तते इति ज्ञातु समर्था इति कृत्वा ताम उपजगाम सर्वज्ञ ईश्वर के साथ रहती है हेमावती जान सकते कह सकते क्या है ऐसे ताम उपजगाम उनके पास गया उनके से पूछा जहाँ उपप्रोक गम धातु गति अर्थक धातु प्रयोग करेंगे शिष्यत्व ने जाना उपगम गुरु के पास ये जाते हैं उनके पास विनम्रता से जा करके इंद्रस्ताम होमाम किलो वाच पप्रच जाकर उनसे पूछा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया प्रश्न भी है अब प्रश्न भी नम्रता के साथ विनम्रता से के साथ शिष्यत्व न करना होता है और परीक्षा करने के लिए अथवा हमको बहुत आता है दिखाने के लिए प्रश्न एक प्रश्न पूछा फिर उसका उत्तर देते थे और एक प्रश्न पूछा क्योंकि हमको और भी आता है प्रश्न पूछने का अभिप्राय क्या है हम जानते हैं एक प्रश्न पूछा और कुछ उत्तर देते हैं फिर और कुछ पूछा वो बोलने का क्या बोलते सुना नहीं ऐसे कभी क्या देखा तो पूछा जब बोलना शुरू करते वो और भी कुछ पूछने लगा बोले हमेशा पढ़ते हमेशा करते हमेशा करते हमेशा करते क्या क्या करते वो बताने लगे प्रश्न कुछ पूछा महाराज जी के जिज्ञासा है शंका है कुछ को क्या है बोला उसका उत्तर देते समय बोला हम ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं इतने पढ़ा हमको पढ़ा ऐसे क्या अपने तो करने लगे प्रश्न पूछा था किस लिए कुछ नहीं <laughs> हम क्या काम क्या क्या जानते सुनो तो ये होता है ये तो नहीं प्रश्न पूछे तो नम्रता के से पूछे जानने की जिज्ञासा गिम्सा जानने की इच्छा से प्रच्छ गिम्सायाम प्रश्न होता है जानने की इच्छा से प्रश्न होता है प्रच्छ धातु का अर्थ है क्या अर्थ है प्रच्छ धातु गिम्सायाम ज्ञातुम इच्छा जानने की इच्छा से प्रश्न होता है तो उनसे पूछा पूछने से फिर उत्तर मिलता है नहीं तो नापृष्टम कस्यचिद ब्रूयात् न चा न्यायन पृच्छतः जानन अपि मेधावी जड़व लोक में आश्रित कोई यदि बिना पूछे नहीं कहना चाहिए अतः अन्याय से पूछे नहीं करना चाहिए कोई आकर इसे पूछे कहते अन्याय से और उल्टे पाल्टे पूछना चाहते हैं तो उनको बस कुछ नहीं कहना बस जड़व लोक में आश्रित जड़ जैसे मूर्ख जैसे रह गया कुछ नहीं पागल जैसे वो सोचेगा इनको नहीं आता है ऐसा जाए पागल है क्या बिगड़ेगा ठीक है पागल कौन है <laughs> तुम यदि हमको पागल समझते हम भी तुमको पागल समझते हैं तुम हमको मूर्ख समझते हम तो तुमको गज मूर्ख समझते तो क्या हो गया कोई समझे क्या हो गया तो जहाँ से पूछा किमेतद दर्शयित तिरुभुतम यक्षमिति ये दिखा करके रूप प्रकट होकर छिप गया वो कौन है क्या है ये प्रश्न पूछा यहाँ तक द्वादश तो हुआ अभी इसका पदभाष्य पूरा हो गया द्वादश हो तो गया ना इसका वाक्य भाष्य नौ शिशुर वाक्य भाष्य हाँ। तद विज्ञान है अग्नि में अब्रुवन सब देवताओं ने अग्नि से कहा इसको देखो जान लो तृण निधान अयम अभिप्रायो अत्यंत संभावितयोर अग्नि मारुतयोर त्रिनद नादान आसक्त्या आत्मसंभावना सातिता भवेदिति वो परमात्मा यहाँ तृण रखने का क्या अभिप्राय था जलाने के लिए उड़ाने के लिए तो ये अभिप्राय अत्यंत संभावित हो अत्यंत संभावित सो प्रसिद्ध है पूजित है बड़े संभावित तो गुणवत्वेन सब ज्ञात है अग्नि मारुतो अग्नि और वायु तृण दहन आदान आसक्तिया अग्नि तृण दहन के लिए असमर्थ वायु आदान उड़ाने के लिए असमर्थ हो तो क्या होगा आत्म संभावना साथिता भय नष्ट हो जाएगी आत्मन संभावना महत्व अभिमान आत्मन टिप्पणी टिप्पणी में महत्व अभिमान बड़े हम है ये जो अभिमान है नष्ट हो जाए इसलिए त्रिन रखा आगे इंद्र है इंद्र कौन है आदित्य वज्रभुद्वा इंद्र शब्द आदित्य का भी अर्थ है इंद्र शब्द का एक अर्थ आदित्य नाम में आया तो इंद्र शब्द से आदित्य सूर्य ले सकते हैं अथवा वज्रधारी इंद्र प्रसिद्ध है वज्रवृत वज्रम विवर्तित वज्रधारी अविरोधा इसमें कोई विरोध नहीं किसी को भी ग्रहण कर सकते क्योंकि द्वादश आद्य में आदित्य में ज्येष्ठ मास जो आदित्य उनका नाम इंद्र है नीचे दिया है अलग-अलग समूह नाम धातार्यमाच मित्रश्च वरुणवंशुर भगत तथा इंद्रो विवस्वान पूषा च पर्जन्यो दशम स्मृतः ततस्त्वष्टा ततो विष्णु रज गण्यो जगन्यज इति इसमें नाम है द्वादश आदित्य में ज्येष्ठ मास का नाम है उनका क्या आया उसमें इंद्र आया इंद्र व्योस्मान तो इंद्र का तो सूर्य भगवान सूर्य अथवा वज्रधारी इंद्र है इंद्र उपसर्पण ब्रह्म तिरोधतये इत तो अयम अभिप्राय उपसर्पण पास में जाने पर ब्रह्म यक्षमान तिरोभूत हो गए क्या अभिप्राय है इंद्र हम इंद्रोहमिति अधिकतमो अभिमानस्य सबसे अधिक है देवताओं का तो अभिमान था इंद्र का अधिकतम सबसे मैं इंद्र हूं देवराज सो हम अग्नि आदि भी प्राप्तम वाक संभाषण मात्रमपि अनेन न प्राप्तोस्मि ते अभिमानम खतम न नाम जहि आदि ये जो अभिमान था अग्नि आदि के द्वारा जो वाक संभाषण थोड़े प्राप्त हुआ ये भी नहीं प्राप्त कर सका कि अभिमान कैसे नष्ट नहीं होगा कथम नाम जहि आदि कैसे नहीं छोड़े तद अनुग्रह एव अंतरहितम तद ब्रह्म बभुव अंतरित छिप गए उसको दुख देने के लिए केवल नहीं अभिमान नष्ट करेंगे और उसके कृपा करने अनुग्रह एव अनुग्रह के लिए तिरहुत हो गई कोई साधक प्रयास करता है कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं मिलता है फिर परमात्मा पर नाराज हो जाता है किंतु परमात्मा कृपा करने के लिए देखते इसको मिल जाए तो संसार की ओर जाएगा नहीं मिलता है तो परमात्मा कृपा करते हैं या बत इतने मैं दिया भक्ति करके मुझे मिला नहीं इतने चाहता हूँ भगवान तो चाहते परम कल्याण जिसे हो कराना चाहते हैं अनुग्रह करने के लिए कभी-कभी कोई वस्तु नहीं मिलती उसे उसमें विफलता नहीं है समझिए परमात्मा की इच्छा है फिर प्रयास करे फिर परमात्मा ध्यान करें तो कल्याण होता है तो तिरोहित हो गए ये एकादश हो गया अभी द्वादश मंत्र मंत्र हो गया मंत्र भाष्य भी पदवाच्य हो गया अच्छा अच्छा यहाँ वाक्य भाष्य स शांताभिमान शांतो अभिमान यस्य क इंद्र अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु जिज्ञासा जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म विजिज्ञासु विशेषण ज्ञातुम इस जिज्ञासु इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा अंतकण शुद्ध होने पर ब्रह्म जानने की इच्छा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा से प्रारंभ है श्रवण आदि विशेष जानने की इच्छा है जैसे बुभुक्षा है भूख लगते खाने की इच्छा भोजन के बिना बुभुक्षा की निवृत्ति नहीं होती है इसी प्रकार तृष्णा है पानी पीने की इच्छा पानी पिए बिना तृष्णा निवृत्ति नहीं होगी जितने रुपया धन संपत्ति पूजा मिल जाए इसी प्रकार जिज्ञासा यदि है तो ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी और ज्ञान प्राप्ति तक ही प्रयत्न करना चाहिए यस्मिन् आकाशे ब्राह्मण प्रादुर्भाव आसीत् तिरोधानं च तस्मिन्नेव जिस आकाश देश में ब्रह्म प्रकट हो गए थे और तिरोभूत हो गए उसी आकाश में रहकर ध्यान करते करते स्त्रियम अतिरूपिणीम विद्याम आजगाम अत्यंत सुंदर स्त्रिय स्त्री पदम लक्षित लक्षण विद्या परमित आसे नह स्त्री का अर्थ स्त्री पद से लक्षित स्त्री स्त्री पद का वाच्य अर्थ स्त्री महिला उसे लक्षित है विद्या विद्या शब्द स्त्रीलिंग है अतिरूपिणी विद्याम आजगाम अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वात् रुद्र पत्नी उमा हैमवती वा सा शोभमाना विद्येव विरूपोपि विद्यावान बहुसभते अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वात् अभिप्राय के ज्ञान का हेतु है ये क्या अक्षय इंद्र का अभिप्राय था इस विषय में उसको ज्ञान करने के लिए प्रकट होने से विद्याधनी का अभिप्राय बोध हेतु था रुद्र पत्नी उमा रुद्र की देवी जी की पत्नी उमा हैमवती व सासो माना हैमवती सुवर्ण आभरण हैमवती व माना सुंदर उमा हैमवती व सा शोभामाना विद्यैव विद्या ही स्वयं प्रकट हो गई और विद्या कहा अति शोभमाना क्यों विरूपोपी विद्यामान बहु बहुसवामान है तो ये जी ज्ञानी होने पर बहुत सुंदर हो जाता नहीं व्यास जी अष्टावक्र आदि कोई सुंदर नहीं थे किंतु ब्रह्म विद्या से ही सबसे अधिक सौंदर्य ये शरीर तो जड़ मिट्टी है उसमें सौंदर्य क्या है बस कुछ ब्रह्म विद्या है तो सबसे सब सुंदर है सब सब गुण है सर्व गुण संपन्न सब गुण है उसके बिना कुछ भी हो जाए रूप हो जाए धन संपत्ति हो जाए ख्याति हो जाए कुछ भी हो जाए अविद्या हो कोई मतलब नहीं है शरीर तो कहाँ जा करके क्या हो जाता है श्वास प्राण बंद हो गया तो शरीर की क्या स्थिति होती है कितने दुर्गंध हो जाता है द्वादश मंत्र ये तृतीय खंड पूरा हो गया अभी चतुर्थ खंड इसमें तो आगे पीछे है कहाँ मंत्र है चतुर्थ खंड कहेगा छयाने में हाँ सा ब्रह्मेति वाच ब्रह्मणो वा एतद् विजयम ह्यध्वमिति ततो हैव विदान चकार ब्रह्मेति साउमा ने कहा ब्रह्मेति हो किमिदम किमितदेक्ष्यमिति यक्य क्या है का सा ब्रह्मेति हो का ये ब्रह्म है परमात्मा है ब्रह्मण वा एतद् विजय मयध्वम परमात्मा की विजय से तुम लोग को पूजा महत्व को तुम लोगों ने महत्व को प्राप्त किया यदि ततो हैव विदांच का ततो हैव उमा वाक्य से ही इंद्र जान लिया ब्रह्मेति ज्ञान हो गया इंद्र को स ब्रह्मेति होवाच किल ब्रह्मण ईश्वर सेव विजय जयत ईश्वर की है ईश्वर ने वो जीता असुरा ईश्वर से ही उनको परास्त कर ईश्वर ने जीत लिया युम तत्र निमित्त मात्रम तुम तुम लोग तो केवल निमित्त है और तस्य विजय ईश्वर की जय में यूय मह्यद्वम महिमान प्राप्त तो तुम महिमान महिमा को ऐश्वर्य को प्राप्त करते हो जीत लिया परमात्मा ने तुमको ऐश्वर्य मिलता है महिमा को प्राप्त करते हो एतद ब्रह्मण वा एतद विजयी एतद क्रिया विशेषण क्रिया विशेषणार्थम विजय एतद यथा से तथा ये विजय होने पर तुमको ही महिमा मिली मिथ्याभिमानस्तु यस्माकम अयम अस्माकमेवायम बीजो अस्माकमेवायम महिमेति यह कहने का अभिप्राय उन परमात्मा के जय से तुम लोग को महिमा को प्राप्त करते हो ये कहने से स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा जो अभिमान था ये मिथ्या अभिमान झूठा है यह अस्माकमेवायम जय यस्माक तुम्हारा अभिमान मिथ्या जो तुमने सोचा था अस्माकमेवायम बीजो अस्माकमेवाय महिमा आई थी तुम लोग ऐसे मान रहे थे हमारी ये जय हमारी महिमा ये मिथ्या अभिमान है ततस्तस्माद उमा वाक्या दैव विदांचकार ब्रह्मेति तस उमा वाक्य से ही ब्रह्म इंद्र को ज्ञान हुआ इंद्रो अवधारणाद तस्माद हेव विदांच एव कर दिया ततो ह एव उमा वाक्य से ही ऐसे एव अवधारण देने से ततो हेवेति न स्वातंत्रेण स्वतंत्र नहीं जान सका उमा वाक्य से अन्य उपदेश ज्ञान हुआ मतलब वाक्यवासी द्वितीय मंत्र तस्माद् वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हेन निर्दिष्टं पस्पृशस्ते हेनत् प्रथमविदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा एते देवा अतितरामिव अन्यान् देवान् इसलिए देवता अन्य देव के अपेक्षा अतितराम अत्यधिक है उत्कृष्ट है कौन-कौन यद अग्निर वायु इंद्र अग्नि वायु इंद्र ये अति अतित उत्कृष्ट है अन्य देवता के अपेक्षा क्योंकि ते ही एनन नेदिष्टम पस्पृशु ते येनन नेदिष्टम नन में इसमें छुटा था न ये नन नेदिष्टम हे पाठ इत्युक्ते येनन एनद नेदिष्टम येनन नेदिष्टम जिसमें नहीं बना वो पुराने में नहीं है हे नन न छुटा है ही एनद नेदिष्टम पस्पृशु ते ही देवता एनत का था ब्रह्म निर्दिष्टम अंतिकतम पास में अंतिक बाढ़ुर नेद साधु इष्टनम से नेद आदेश हो जाता है अंतिकतम पस्पृश स्पर्श क्या मतलब संवाद हुआ पास में पास में देखा ते यनत प्रथम चकार ये पहले उनको जानने से अन्य के अपेक्षा देवता उत्कृष्ट है ब्रह्मेति तस्मात् बा इंद्रोति तरामे वन्यान देवान सहयने येन निर्दिष्टम स्पर्श सहयने नत प्रथम चकार ब्रह्मेति तस्मात् बा तराम और अग्नि वायु के अपेक्षा भी इंद्र है अन्य देवा अन्य देवान सब देवता से बढ़कर इंद्र अत्यधिक उत्कृष्ट इसलिए हुआ स निर्दिष्टम नेदिष्टम क्योंकि इंद्र अत्यंत समीपतम होकर के पहले ही उनको पास में जाकर जाना सयनत प्रथम विधान चकार पहले उसको जान सका पहले तो उनको लेख देखा था चक्र विशेष सगुण साकार रूप सगुण रूप बाद में उसको ज्ञान हुआ विधानचकार चकार ब्रह्मेति ब्रह्मेति ज्ञान हुआ नित्य तृतीय पदभाष्य में यस्माद अग्निवायु इंद्रा एते देवा ब्रह्मण संवाद दर्शनादेना सामीपम उपगता अग्निवायु इंद्र ब्रह्म के संवाद दर्शन आदि से ज्ञान दर्शन ने पहले साकार दर्शन फिर ज्ञान वाक्य से सामीपम उपगता पास में गए तस्माद ऐश्वर्य गुणेर अतितरामिव ऐश्वर्य गुण से अत्यंत उत्कृष्ट है शक्ति गुणादि महाभाग्यई शक्ति गुणादि भाग्य से युक्त है अग्नि वायु इंद्र अन्यान देवान अतितराम अतिशयन सेरते अतिशय होते हैं अतिशयन सेरते सेते सयाते सेरते उत्कृष्ट होते हैं इव वर्तेते देवता अन्य देवता के अपेक्षा अतिशय उत्कृष्ट है इव शब्द अनर्थक अवधानार्थवा अतिशयन अतितराम इव अतितराम इव जो दिया है ये इव दिया है अतितराम इव इव जो दिया है या तो अर्थ अनर्थक नहीं तो एव शब्द का अवधारण अतितराम एव अतितर जैसे नहीं अतितराम अत्यधिक उत्कृष्ट है अथवा अतितराम एव इव शब्द अनर्थक अथवा अवधारण के लिए एवकार के लिए ते ही अनद निर्दिष्टम पस्पृश यद अग्निवायु इंद्राय अतितर ते ही देवा एनत यस्माद एतद् ब्रह्म एनत ब्रह्म नेदिष्ठम नेदिष्ट का तो अंतिकतमम अंतिक से इष्टन होने पर निर्दिष्ट बनता है नेद आदेश होकर अंतिकतमम अत्यंत समीप होकर के ने प्रियतमम निर्दिष्ट समीप होता है प्रिय अत्यंत प्रियतमम पस्पृश पस्व स्पर्श क्या स्पर्श का अर्थ यथोक्ते ब्राह्मण संवाद आदि प्रकार यही स्पर्श है संबंध ब्राह्मण का संवाद दर्शन आदि प्रकार से उनके पास पहुँचे ते ही यस्माच्चे हेतुर एनत ब्रह्म प्रथम विधानचकार विधानचक्रु इस ब्रह्म को प्रथम प्रथम प्रधान असंत प्रधान होकर के इसको जान लिया देवता लोक ने विधानचक्रु इति तद ब्रह्म इति ब्रह्म से जान लिया द्वितीय मंत्र के तृतीय और अग्निवायु अपि इंद्र देव विधान चक्र अग्नि और वायु ये दोनों भी उमा को तो इंद्र को उमा से इंद्र को ज्ञान हुआ उमा वाक्य से इंद्र आकर उपदेश किया अग्नि वायु को उनको ज्ञान हुआ विधान चक्र इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथम श्रुतम उमा वाक्य से तो इंद्र ने पहले सुना उसके बाद उसी से अग्निवायु को ज्ञान हुआ प्रथम श्रुतम ब्रह्म इति उमा वाक्य सुना अत तस्माद् वा इंद्रो अतीत राम अतिशयन सेत अतिशय होता है अन्यान देवान अन्य देवते अपेक्षा सहयन त निर्दिष्टम पस्पर्श पहले प्रियतम के पास में संवाद किया संवाद ने इंद्र किया ज्ञान साक्षात्कार हो गया यस्मा स अन्य देवताओं को संवाद हुआ सहयनत प्रथम विदान चकार पहले ही जान लिया इंद्र ब्रह्म इति उक्तार्थम वाक्यम उक्त अर्थस्य तद उक्तार्थम वाक्यम इस वाक्य का अर्थ पहले बता दिया एक दो तीन तीन मंत्र का वाक्य भाष्य चलेगा वाक्य भाष्य कितने पृष्ठ में है ताम च पृष्ठ तस्याव वचनाद विधान चकार उमा को पूछ करके उमा वाक्य से इंद्र समझ लिया ये ब्रह्म है अतः इंद्रस्य बोध हेतुत्वाद विद्येव उमा इंद्र के बोध का ज्ञान का हेतु से विद्या ही उमा है विद्या सहायवान ईश्वर इति स्मृति ईश्वर विद्या सहायवान और विद्या उमा रूपे उनके सहाय स्मृति कहती यस्माद् इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास्ते ही अनर्थ अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्त संत पस्पृशु इंद्र इंद्र विज्ञान पूर्वक इंद्र को पहले ज्ञान हुआ उसके बाद अग्निवायु को हुआ तो तीनों को ज्ञान हुआ तो तीनों को ही अग्नि वायु इंद्र तीनों को अति समीप ज्ञान हुआ ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त हो गए स्पर्श स्पर्श हुआ यही प्राप्त हो जाना है ज्ञान होते ही ते ही प्रथम विधांचकार प्रथम प्रथम का अर्थ प्रथम यथा स्यात् क्रिया विशेषण करना विधान चक्र तीनों जान लिया तस्माद अतितराम अतित्य अन्यान अन्य देवता को अतिक्रम करके अतिशयन दीप्यन्ते प्रकाशमान होते हैं अन्यान देवान अग्नि वायु इंद्र ततोपि इंद्र अतितराम दीप्यते और वायु अग्नि के अपेक्षा इंद्र और अधिक प्रकाशमान है आदो ब्रह्म विज्ञानात क्योंकि पहले ब्रह्म ज्ञान उसको हुआ तो ब्रह्म ज्ञान से ही प्रकाशमान कृतकृत्यता निरंकृत तृप्ति की प्राप्ति होती तो उनको ज्ञान हुआ इस प्रकार ऊपर से उपदेश से हम्म क्या हुआ टीका में अच्छा विद्येति सत्व प्रधान शक्ति चितादात्म्यपत्या बोध हेतु विद्या क्या है सत्व प्रधान शक्ति सत्वम प्रधानम यस्याम सत्व प्रधान है शक्ति अंतकण वृत्ति विशेष है शक्ति और वे उसको शक्ति क्या कहा हेतु कह करके शक्ति कह दिया चित्त तादात्म्य आपत्या चित्त चेतन के साथ तादात्म्य आपत्या बोध हेतु अंतकण वृत्ति है तो बोध हेतु है बोध है शुद्ध चैतन्य उसका हेतु क्योंकि वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है वृत्ति से आवरण भंगवन से बोध रूप प्रकाश स्वयं प्रकाश है इसे विद्या वृत्ति को ही कही वो बोध हेतु कहते हैं वही वृत्ति ही बोध हेतु वृत्ति ही आवरण का भंजी का है तो बोध वृत्ति अभिव्यक्ता देव बोध हो गया वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वही बोध है वही बोध उसका हेतु है वह ऐसा होने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होने पर सत्व प्रधान से ब्रह्माकार वृत्ति वही शक्ति माया का कार्य है अज्ञान अंतकरण का परिणाम वो जड़ है तो भी चेतन के साथ आध्यात्म को प्राप्त करके वो ज्ञान जैसे होता है वही बोध हेतु बोध स्वरूप स्वयं है अंतकरण वृत्ति अभिवत चैतन्य वृत्ति ध बोध वृत्ति अभिवत चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति इसको ज्ञान कहते हैं तो उसको ही बोध हेतु कह दिया क्योंकि शक्ति का तो वस्तुतः वृत्ति होने पर आवरण भंग हो जाता है फिर स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्ञान परमात्मक बोध है तो कारण तो नहीं हेतु तो नहीं है ऐसे हेतु तो प्रयोग होता है जे वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति से ही वृत्ति व्याप्ति होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है फिर स्वयं प्रकाश ब्रह्म की प्राप्ति वही बोध ज्ञान है स्वयं तद्रूपेण अवस्थानम तद्रूपेण अवस्थान रूप जो है उसका हेतु है बोध वृत्ति तो वृत्ति हो गई बोध रूप ब्रह्म का हेतु है बोध तो स्वयं वृत्ति अभिवत चैतन्य चिदाभास विष्ट वृत्ति वो ज्ञान विद्या ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म के लिए हेतु स्वयं प्रकाश ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए आवरण भंग के लिए हेतु से हेतु शब्द से भी कह देते हैं इसे ब्रह्म ज्ञान से मुख्य प्राप्त करता है और बाकी तस्मादित्यस्य अपेक्षितम पाठ व्यत्यासन व्याचष्टे तस्माद अन्यान पाठ तस्मा तस्माद अतितरान्वय ये मंत्र आया तस्माद इतस्य अपेक्षितम पाठ वेत्यासन हाँ पूर्वम पठित को उत्तर लिया यस्मात् को लेकर के पहले आगे करके यस्माद इत्यादि ने पहले यस्मात् शुरू किया यस्मादेवे वे यस्माद इंद्र विज्ञान पूर्वक अग्नि को जान लिया आगे तस्माद आएगा तो यस्मात पहले करके पाठ के विपरीत करके व्याख्यान करते यस्मात इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्निवायु इंद्र को ज्ञान हुआ तस्मात अतितराम आगे अर्थवाद उपसंहारोयम विधि उपक्रमार्थम ये जो आख्यायिका है अर्थवाद का उपसंहार है क्योंकि विधि उपक्रमार्थम विधि आरंभ करने के लिए अर्थवाद का उपसंहार हुआ आगे विधान करेंगे यही चल रहा था सगुण ब्रह्म की उपासना विधान करने के लिए आगे ग्रंथ तो उपासना विधान करने के लिए विधि आरंभ करने के लिए यह अर्थवाद उपसंहार हुआ ये अर्थवाद के द्वारा कह करके आगे उपासना विधान करेंगे ओम आप्यायन